चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् छांद के उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय खंड के सप्तम मंत्र का कुछ विचार हो गया था जिसमें उद्गीत अक्षरों की उपासना उदगी तीन की उपासना बताई जा रही थी आगे कहते हैं उसके आगे ये कहना चाहते हैं कि फल की समृद्धि जो चाहता हो उसके लिए ऐसे आगे के विधान से उपासना करनी चाहिए फल में समृद्धि चाहता हो जिस काम जिस इच्छा से फल जिस फल की इच्छा से उद्गान करता हो उस फल की समृद्धि के लिए आगे बताए जाने वाले विधान से उपासना करें ये बोलना चाहते हैं आगे मंत्र है अथ खल्वाशे समृद्धि उपसरणानि उपासीत येन साम्ना पश्यन् स्यात् अथ खल्वाशि समृद्धि उपसरणानित्युपासीत तेन सामना त्वश्यं स्यात् तत्सामोपधावे अथ अनंतर उद्गीत अक्षरों की उपासना के अंतर उद्गीत उद्गीत ऐसे अक्षरों की उपासना चल रही थी किसको बुद्ध बोलना देव मैं बुद्ध अंतरिक्ष की पृथ्वी थम इत्यादि बोला था तो प्राण उद बाच गी अन्नम थम इत्यादि बोला था उद गी ऐसा उपासना करना कहा था आगे कहते हैं अनंतर उद्गित अक्षर उपासना के अनंतर आशी ही आशी जो चाहना होता है आशी फल की इच्छा समृद्धि फल विषय की इच्छा की फल की समृद्धि की इच्छा से उपसरणानी उसके साधनों की उपासना उसके साधनों की उपासना करना चाहिए क्या साधन है उसके लिए फल समृद्धि के लिए तो कहते हैं एक सामना तो से जिस शाम के द्वारा वहां स्तुति करनी होगी देवताओं की हो प्रधापित उस शाम की उत्पत्ति आदि का चिंतन करे कहा उत्पन्न होता है शाम आदि उसके चिंतन करे अच्छा ठीक है कहते बाघादि समृद्धि फलकम उपासना उपासना उपदेश ये जो उद्गीत उपासना से वाणी आदि की समृद्धि बताई गई थी वाणी का विषय सारा का सारा वाणी दोह देती है उसके लिए ऐसा आया था यही कहते हैं बाघादि समृद्धि फलकम उपासना उपदेश्य बाघादि की समृद्धि फल वाली उपासना का कथन करके फल समृद्धि एक प्रकार आगे जिस फल की इच्छा से उद्गान होना है उस फल की समृद्धि जिस प्रकार हो सके तत्प्रकार ज्ञान मन ज्ञान मन उपासना उस प्रकार उपासना सर्व काम्य उपासना उपासना शेष भूतम काम्य कर्मों में ये उपासना का अंगभूत है उपासना है काम्य कर्मों में ही होगा फल की जो समृद्धि चाहता है काम्य कर्मों में चाहता है हाँ। नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं काम्य कर्म की बात है शेष होता प्रासंगिक विधीयते प्रासंगिक चलने जा रहा है वैसे तो ओंकार की उपासना चल रही थी अधिक अथवा उद्गीत अक्षरण इत्यादि करके किंतु यहाँ प्रासंगिक है प्रसंग से आई हुई उपासना है इसको बताना चाहते हैं अथ खलु इत्यादि वासन में कहा अथ खलु इधानी अब उदगित अक्षर उपासना जानता अब आशी मान समृद्धि आशीष काम से समृद्धि या आशी समृद्धि में ष्ठी समास कहते हैं आशी समृद्धि फल की समृद्धि जिससे हो ऐसा आशीषा माने काम से समृद्धि आशी समृद्धि फल की समृद्धि जिससे हो यथा भवे तद उच्च हाँ, का, काम्य कर्मों के फल की समृद्धि जिससे हो सके वो कही जाती है प्रासंगिक उपासना है वाक्य शेष तद उच्चती वाक्य शेष उपसर्वाणी उपसर्तव्या उपगंतव्यान ध्ययानी जितने भी साधन हैं फल की समृद्धि के लिए उसके चिंतन करना चाहिए कथम उपासित इति कैसे तो प्रश्न आया था यदि उपासित उसकी उपासना करे चिंतन करे सबका एवं उपासित का इस प्रकार चिंतन करे कैसा आगे एवं से आगे कहेंगे क्या करना है तद यथा किस प्रकार चिंतन करना चाहिए अरे फल की सिद्धि के लिए जिस शाम की उद्गान करना हो उस शाम की उत्पत्ति आदि के बारे में विचार करना है उसका छंद क्या है ऋषि क्या है उत्पत्ति कहाँ होनी है उसकी कौन सा शाम है इत्यादि तदेथा वो इस प्रकार एन सामना एन साम विशेषण स्वस्म तुति करिश्यम उद्गाता जिस शाम की स्तुति करना चाहता हो जिस शाम के द्वारा जिस शाम मंत्र के द्वारा उद्गान करना चाहता है देवता की स्तुति करना चाहता है भवे उद्गाता उद्गाता जो स्तुति करेगा तत्साम उपधावित मान चिंता चिंतित उत्पत्ति आदि उसको उत्पत्ति छंद ऋषि आदि के चिंतन करे क्या छंद वाला साम भाई मंत्र है वो क्या ऋषि है उसकी है उत्पत्ति कैसे इत्यादि सब चिंतन करे तभी फल की समृद्धि होगी ये कहा टीका से टीका में कहते हैं बाघादि समृद्धि फल उपासना अनंतरम अथ अर्थ अथ मंत्र में भी भाष्य अथ शब्द का अर्थ बाघादि समृद्धि फल तो हो गया हम्म। उद अलग अलग अस्कर उपासना करने से बाघ आदि की समृद्धि होती कहा था अब इसके पश्चात बक्षमाण उपासना नाम सर्व काम्य उपासना शेष द्योतनाथम खलु इति उत्तम ये खलु शब्द से लगा है ये द्योतित करता है आगे कहे जाने वाली उपासना के ये कैसे काम्य कर्म के अंत है ये उपासना ये नित्य कर्म नैवित्य कर्म के अंग नहीं काम्य कर्म के अंग है काम्य कर्मों में ही ये सारा चिंतन करना पड़ेगा किस कौन सा शाम की किस शाम से तुति की जा रही है उसको उत्पत्ति कहाँ होती है पांच भक्त की शाम है साप्त भक्त की शाम है कौन सा शाम है और छंद क्या है उसके उस मंत्र का छंद क्या है देवता कौन है ऋषि कौन है ये सब चिंतन करना पड़ेगा काम्य कर्मों के लिए ये कहा ये बोलना चाहते हैं बक्षमाण उपासना भक्षमाण उपासना आगे बताने वाली उपासना ये सब सर्व काम्य उपासना शेष निवर्तनार्थम सारे काम्य कर्मों के शेष अंग है ये ये सारे चिंतन पूर्वक काम्य कर्म करेगा तो फलशाली होगा नहीं तो नहीं होगा ये कहा ये खलु शब्द इसलिए लगाया कहा अवश्य ही इत्यादि प्रासंगिकत्व दर्शाई प्रासंगिक उपासना है इदानिम इत्यादि का इदानिम आशी समृद्धि का आशीषा समृद्धि आशी समृद्धि ऐसा ष्ठी समास वहां है काम शब्द फल विषय जो आशीषा माने काम से कहा था काम माने फल हाँ, काम्यंत काम फल को ही चाहते हैं लोग इसलिए फल काम है यहाँ तो फल की समृद्धि जिस प्रकार हो उस प्रकार की उपासना बताई जाती है माने ऋषि छंद आदि सबका ज्ञान होगा तो उस काम्य धर्म का फल संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा ठीक है तत्शब्द प्रकार ज्ञान परामर्शी तद उच्चते माने उस उपासना या प्रकार उपासना है इस प्रकार की उपासना का परामर्श करेगा उच्चते माने विधीयते यहाँ भवेद का अर्थ उच्चते कहा उच्चते माने विधान किया जाता है उपासना का विधान ध्यान प्रकार प्रश्न पूर्वक विषदयते उपासना प्रकार ध्यान माने चिंतन उपासना उपासना का प्रकार प्रश्न पूर्वक कैसे उपासना करेगा इति उपासिता इत्यादि उत्तर देते हैं कथम ये आया इति शब्दार्थम अभिनय इति शब्द का अर्थ एवं करके देते हैं इस प्रकार उपासना करें आगे रह जाने वाली बातें हैं कैसे एवं शब्दार्थम उदाहरण निष्ठतया स्पष्ट है एवं शब्द जो दिया है इस प्रकार करना क्या है उदाहरण के रूप में एवं शब्द उदाहरण के रूप से स्पष्टीकरण करते हैं तद यथा इत्यादि का क्या करना तो ये सामना ये न विशेषण तो संतुति करिष्यन उस यज्ञ में स्तुति करना होगा जिस शाम के द्वारा उदगाता स्तुति करेगा उस शाम की उत्पत्ति छंद ऋषि हाँ, सबका चिंतन भी होना चाहिए ये कहना चाहते हैं ठीक है कहा उत्पत्त्यादि भी आदि शब्द देना हाँ, उत्पत्त्यादि भी है उत्पत्त्यादि भी चिंता है कहा आदि शब्द से क्या लेना है कहा छंदो देवता आदि क्रिय थे किस छंद वाला शाम है गायत्री अनुष्टुप उष्टिका आदि कौन सा छंद है कौन सा देवता उस शाम क्या है सब चिंतन करना चाहिए उदगाता को ये करना चाहते ये कहना चाहते हैं आगे मंत्र है देवता की चिंतन अच्छा तो उस शाम की उत्पत्ति आगे यश्याम ऋचम यदा यदार्शे अं, यश्याम ऋचम यद आर्षेयम तम ऋषि याम देवताम अविष्टोशन सैत ताम देवताम उपधावेत यश्याम ऋचेत ताम ऋचम यद आर्षेयम तम ऋषि याम देवताम अविष्टो अविष्टोशन सैत ताम देवताम उपधावेत भाष्य में कहते हैं मंत्र में ये ऐश्याम ऋचि जिस ऋचा में वो शाम आरूढ़ होगा जिस शाम जिस ऋचा में बैठा होगा उस ऋचा का भी चिंतन करना चाहिए और जो ऋषि वाला होगा यद आर्षेयम जो ऋषि वाला शाम होगा किस ऋषि ने देखा है उस शाम को वो ऋषि का भी चिंतन करना चाहिए और याम देवता उस शाम का जो देवता होगा उस देवता का भी चिंतन करना चाहिए सबका चिंतन करे ये कहा ठीक भाष्य में कहा ये श्याम ऋचि तत्साम जिस ऋचा में वो शाम आश्रित है हाँ, तम च ऋचम उस ऋचा का भी चिंतन करना चाहिए और उपधावेद देवता आदि भी कहा देवताओं के सहित चिंतन करे उस ऋचा की भी और यद आर्षेयम शाम जिस जिस ऋषि वाला होगा वो शाम तब तम च ऋषि उस ऋषि का भी चिंतन करना चाहिए याम देवताम अविष्टो संख्या उस शाम के द्वारा जिस देवता की स्तुति होनी होगी वहां उस देवता का भी चिंतन करना चाहिए देवताओं को बढ़ावे दे कहा टीका में कहा देवतादि भी इत्यादि शब्द है ना आर्षे आदि इत्यादि देवतादि भी के द्वारा जो देवतादि भी में आदि शब्द से क्या लेना है ऋषि आदि आर्षय आदि में ऋषि आदि को लेना कहा आगे मंत्र है ये न छंदसा तोष्यन सत्छंद उपधावेत ये न स्तोमे न स्तोष्यमाण सम स्तोम उपधावेत ये नंदसा तोष्यन सत्छंद उपधावेत ये न स्तोमे न स्तोष्यमाण सम स्तोम उपधावेत ए न छंदसास से जिस छंद के द्वारा स्तुति करनी होगी कौन सी छंद गायत्री छंद है अनुष्टुप है क्या है कौन सा छंद है उष्ण गाय जगती है जो भी छंद होगा कौन सा छंद उस शाम का है ये न छंदसास से जिस छंद के द्वारा उस देवता की स्तुति करनी होगी वहां उस शाम के द्वारा तत् तत्छंदोपधावित उस छंद का भी चिंतन करें शाम की उत्पत्ति आदि चिंतित ऋषि आदि का चिंतन और इसका छंद का भी चिंतन करें ये न स्तोम न त्वशन से तोम होता है समुदाय स्तुति विशेष को तोम कहते हैं तो उसके भी चिंतन करें स्तोम सोमयाग में प्रसिद्ध होता है स्तुति विशेष मैंने तीन बार करना बीस बार करना इत्यादि जो भिन्न भिन्न प्रकार से करना होगा स्तोम शब्द से कहा समुदाय समुदाय करके करना उसको स्तुति को कहते हैं स्तोम वो सोमयाग में प्रसिद्ध है जिस तोम के द्वारा स्तुति करनी होगी उस तोम को भी चिंतन करें सोमांग फल से कर्तिकामित्व आत्मनिपदम ये आत्मनिपद क्यों कर दिया कहते हैं एन दे एन स्तोमेन त्वश्यमान ये सानस प्रत्यय लगा हुआ आत्मन प्रत्यय किया है शत्रु लगता है तो त्वश्यम होना था त्वश्यमान लिखा हुआ है आत्मनिपद क्यों हुआ तो भाषाकार कहते हैं स्तोमांग फल से कर्तिकामित्व ये यजमान को फल नहीं मिलेगा जो स्तुति करेगा कोई उदगाता को ही फल मिलेगा स्तुति करने वाला ब्राह्मण को फल मिलेगा ये जो तो, तोम का फल होगा तोमांग फल से कर्तृगामी कर्तृगामी होने से आत्मनिपदम पश्यमाण थी त्वश्यमाण सांस प्रत्यय लगा आत्मनिपदम कर्तृगामी स्वरित नहीं था कर्तभिप्राय क्रियाफल है तो क्रिया का फल उसी स्तुतिकर्ता के ऊपर यजमान को नहीं मिलेगा फल इसके लिए है तम स्तोम उपधारित इत्यादि कहा टीका में कहते हैं गायत्री आदि इति आदि पदम उष्ण अनुष्टुप बृहत्यादि संग्रहार्थम ये न छंदसा गायत्री आदि ना त्वश्यमान से आदि इत्यादि कहा था जिस छंद के द्वारा स्तुति करने होगी गायत्री आदि आदि से क्या लेना गायत्री आदि ना बोला भाष्य में आदि से लेना है माने और भी छंद हो सकते हैं आदि पद किसके लिए उष्ण है अनुष्टुप है बृहती है ये सब छंद है अच्छा स्तोम का अर्थ करते हैं त्रिवृत्त पंचदश सप्तश एक विंश इति प्रसिद्ध सोमेघ स्तोम तीन बार करना पंद्रह बार करना सत्रह बार करना इक्कीस बार करना बार बार स्तुति करना ऐसा सोमयाग में प्रसिद्ध स्तोम शब्द से कहा जाता है तीन बार लगातार एक ही मंत्रों का स्तुति करना एक ही मंत्र स्तुति करना अथवा सब सात बार करना सत्रह बार करना पंचदश पंद्रह बार करना अच्छा इत्यादि स्तोम कहा जाता है पद प्रयोग प्रतिपन्नम अर्थम त्वश्यमाण शब्द में सानस प्रत्यय है पद है क्षत्रि होता तो त्वश्यम होना था यहाँ त्वश्यमाण लिखा है सानस लगाया तो पद के प्रयोग में बताते हैं तोमांग फलस्य इत्यादि कहा था तोमांग फलस्य कर्तिगामित्व स्तोमांग जो स्तोम का फल है वो कर्तागामी है यजमान को नहीं मिलेगा जो उद्गान करेगा उसी को मिलेगा फल इसके लिए है ठीक है मेरा यत्र कर्तगामी फलम तत्र आत्मनिपदम प्रयोजित है स्वरित ही तक कर्तभिप्राय फल ऐसा सूत्र है जहां कर्तगामी क्रिया का फल होगा वह आत्मनिपद का प्रयोग होता है परगामी क्रिया के फल में परस्पर पद होता है ऐसा हो जाता है अन्यथा पूर्वोत्तर परस्पर पद प्रयोग प्रसंग नहीं तो पूर्व में क्वेश्चन शब्द है आगे भी उपधावेत शब्द है पहले भी उपधावेत है मंत्र में ये न संदशात क्वेश्यमाण है ना तो पूर्व में उपधावेत आदि पद आया आगे भी उपधावेत पद आता है पूर्व में है उपधावेत और आगे त्वश्यमाण आगे आगे तम स्तोम उपधावेत दोनों में परस्पर पद है तो यहां भी त्वश्यमाण में त्वश्यन होना चाहिए था पूर्व पूर्वोत्तर सहचार से परस्पर पद होना था नहीं किया कर्तगामी फल होने से आत्मपद कर दिया ये कहा आगे मंत्र है याम दिशम अभिष्टोशन ताम दिशम उपधावे याम दिशम अभिष्टोशन ताम दिशम उपधावे जिस दिशा में बैठ करके उसको स्तुति करनी होगी उस दिशा के भी चिंतन करें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सी दिशा में बैठ करके स्तुति सामगान करना उद्गान करना है उस दिशा के भी चिंतन करेगा याम दिशम अविष्ट संशय जिस दिशा में बैठ करके पूर्वाभिमुख होना है पश्चिमाभिमुख कौन सा करना है उस दिशा का भी चिंतन करे ताम दिशम उपधावित इत्यादि बोल दिया भाष्य में कहते हैं याम दिशम अभिष्ट संसार ताम दिशम उपधावित अधिष्ठात्री जिस दिशा में बैठ करके तुति करनी है उस दिशा के भी चिंतन करे खाली दिशा की नहीं उसके अधिष्ठात्री देवता हूं उसे तो इंद्रादि देव कौन अधिष्ठात्री है पूर्व के इंद्रदेव अधिष्ठात्री है अपने अधिष्ठात्री देवों के सहित उस दिशा की चिंतन करे एक कहा टीका में कहते हैं याम दिशम अभी अभिव्याप्य तीर्थ जिस दिशा में व्याप्त होकर के चिंतन करना है उस दिशा के भी चिंतन करेगा त्वचन देवता विशेषम जिस देवता की स्तुति करनी होगी जिस दिशा में उस दिशा के लिए अधिष्ठात्री देव के सहित दिशा के लिए चिंतन करेगा अधिष्ठात्री शब्द है ना इंद्र इंद्रा इंद्रादयो गृहते का अधिष्ठात्री क्या लाना पूर्व का इंद्र है दक्षिण का यम है पश्चिम का वरुण है उत्तर का कुबेर है इत्यादि ये अधिष्ठात्री देवता होते हैं ये गृहित हो जाते हैं आदि पदम तत्त दिग अवस्थित असाधारण धर्म संग्रहार्थम और आदि पद से क्या लेना है तो कहते हैं उस उस दिग में बैठे हुए और भी जो असाधारण धर्म होंगे उनका भी चिंतन करें तत्त दिशा में जो असाधारण धर्म होगा उसका भी चिंतन करें यह अर्थ आएगा कहा यह सब करने से क्या फल होगा कहते हैं ये सब चिंतन के बाद अंतिम में अपना भी नाम गोत्र सहित अपना भी चिंतन करें जो उद्गान कर रहा है जो व्यक्ति कहते हैं आत्मान अंत उपस्थित उपस्तुवीत

व्यासो यदस्वै सकाम समृद्धेत यमस्तु विदेति यमस्तु विदेति अंततः मैंने अंतिम में सारे ऋषि देवता आदि के चिंतन के पश्चात दिशा का चिंतन अधिष्ठात्री देव का चिंतन ऋषि आदि का छंद आदि का सबका चिंतन के पश्चात अंततः मैंने अंत अंतिम में आत्मानम उपस्थित था तो अपने तरफ होकर के अपना भी चिंतन करेगा अपना नाम गोत्र आदि से जो उद्गान करता होगा उसकी स्थिति करेगा कामम ध्यान फल की चिंतन करता हो काम माने फल यहां काम में यदि काम फल जिस फल की इच्छा हो रही है यजमान को दिलाना है उस काम उस इच्छा काम माने फल के चिंतन करता हुआ अपने भी चिंतन करे कहा किंतु अप्रमत्त प्रमाद रहित होकर के काम करे प्रमाद रहित होकर के करे अप्रमत्त होकर के अपना भी चिंतन करे कहा ऐसा करने से क्या होगा अभ्यासों हवई अदस्मयी काम समृद्ध शीघ्र ही अभ्यास माने शीघ्र शीघ्र ही इसके लिए जो काम होगा विषय होगा वो काम समृद्धि को प्राप्त होगा वो फल समृद्धि को यहाँ काम माने समृद्धि है वो फल समृद्धि को प्राप्त होगा ये सब चिंतन पूर्वक जो करता हो तो कहा यद काम स्तुदित यद काम स्तुदित जिस काम की इच्छा कर रहा था वो जिस फल की इच्छा कर रहा था वो, वो समृद्धि को प्राप्त होगा ये बताया भाष्य में कहते हैं आत्मान उदगाता या आत्मा शब्द से क्या लेना उदगाता अपनी भी चिंतन करे अंत तो उदगान कर रहा शाम के उदगान कर रहा वो आत्मान उदगाता स्वरूपम अपना स्वरूप नाम गोत्रादि भी सामादि क्रमेण कौन सा नाम क्या गोत्र है क्या नाम है अपना इनका चिंतन पूर्वक और कौन सा शाम है अपना ये सबका क्रम से और शाम है जिस शाम की चिंतन करो वो शाम है ऋचा है छंद है ऋषि है सबका चिंतन दिशा का सबका चिंतन करे अंतिम में अपना ये सब करके क्रम से पहले तो शाम की चिंतन जिस शाम की स्तुति करनी वो शाम का शाम से आरंभ करके सबका करना है चिंतन पूर्वक अंतिम में अपना नाम गोत्र आदि करके आत्मान अंत तो मैंने अंत्य उपस्थित स्तुति कहा अंतिम में अपनी भी उपासना करे चिंतन करेगा कामम ध्यान फल के चिंतन करता हुआ किस फल के लिए यहाँ चिंतन चल रहा है तो ये काम्य कर्म की अंग उपासना है कामम ध्यान का अप्रमत्त प्रमाद नहीं करना चाहिए उसमें प्रमाद क्या है यहाँ जब शाम उद्गान काल में प्रमाद क्या होगा स्वर उष्म व्यंजनादिभ्य अप्रमत्त है हम्म। अक्षरों के उच्चारण में प्रमाद न करे वर्णों के उच्चारण में ये प्रमाद न करिए ये उदगान में प्रमाद होना ये वर्णों को उच्चारण में गलत कर देगा स्वर कौन सा स्वर है अ ई उ री ए ओ आई औ जिस जिस स्थान से होना है जो प्रयत्न लगना है स्थान प्रयत्न लगा कर उच्चारण करें और स्वर उष्म वर्ण होते हैं सह सह उनका उच्चारण कहां से करना है हम्म, क्या स्थान क्या प्रयत्न उनका है वो भी ध्यान रखे और व्यंजन कादव मावसाना परसा इनको व्यंजन करके लेते हैं यह वाला आदि अंतस्थ वर्ग सब इनका उसी प्रकार उच्चारण उत्थान वर्ण मिला करके ये प्रमाद न करता वो उद्गान करे कहा ये अप्रमत्त शब्द का अर्थ अप्रमत्त मैंने स्वर उष्म व्यंजनादिध्य प्रमादम अकुर्वन वर्ण उच्चारण में प्रमाद न करता हुआ जो वर्ण जिस स्थान का है जो प्रयत्न वाला है स्थान प्रयत्न युक्त करके उच्चारण करे तो ऐसा करने से क्या होगा जगह सारा चिंतन करने से अभ्यास मैंने क्षिप्रम एवं शीघ्र ही हाँ, यत्र इस जिसमें अस्मयी एवं विदे इस प्रकार जानने वाला जो व्यक्ता होगा इसके उपासक के लिए स काम समृद्धि में वो काम वो फल समृद्धि को प्राप्त होगा जिस फल के लिए उद्गान किया था वो फल समृद्धि को प्राप्त होगा सब कौन काम है कहते यह काम यो काम जो काम जो फल यहाँ काम माने फल अश्य स्वयं काम जिसका ये फल है स्वयं यद काम सस्तुता तो द्विरुतिर आदरा था दो बार कहा है तुबीता तुबीता ये किसके लिए आदर देने के लिए खंड समाप्त हो गया तृतीय खंड इसके लिए ठीक है हम कहते हैं आत्मान मन स्वरूपम अपना स्वरूप का भी चिंतन करें गोत्रादि भी हाँ, नाम गोत्रादि लगा करके अंतिम में उपस्थित उर्गाता स्तूभित संबंध वहां शाम की स्थिति करें देवता की स्तुति करे अपना भी नाम लगाकर कहा नामादि भी इत्यादि शब्द ना वर्णाश्रमादि नाम आदि लगा दे नाम से क्या लेना वर्ण किस वर्ण का है ब्राह्मण आदि किस वर्ण का है आश्रम किस आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम बाणप्रत संन्यास कहाँ है उसका भी चिंतन करे अंततः इतने अर्थ हमारा सामाधीन क्रमेण अंतिम में अपना लेना है पहले तो शाम का चिंतन है हाँ, फिर ऋषि ऋचा का चिंतन है ऋषि का चिंतन है फिर छंद का चिंतन है हम्म, और फिर उसके बाद स्तोम का चिंतन है फिर दिशा का चिंतन है उसके बाद आत्मा अपने चिंतन अंतिम है कहा एक कहा ये कह रहे हैं पूर्वोक्तान सामाधि सर्वान उक्तेन क्रमेण ध्यात्व पूर्वोक्त जो शाम सबसे पहले तो जिस शाम की स्तुति करनी है वो शाम के चिंतन करे यहां से आरंभ हुआ है प्रसंग यहां से लेकर के दिशा तक जितने भी हैं वो पूरा होने के बाद पूर्वोक्तान सामाधि सर्वान उक्तेन क्रम जिस क्रम से बताया उस क्रम से सबके चिंतन करके चिंतन करके उसके बाद तद अवसान उनकी समाप्ति पर स्वात्मानों भी संचित्य अपना भी चिंतन करके सम्यक चिंत्य संचिंत्य अपेक्षित फलम अनुसंधान तो अपेक्षित फल एक उद्गान के द्वारा क्या फल चाहता है उसके अनुसंधान करता हुआ स्वरादिव्य प्रमाणन अपूर्वन स्वर उष्ण व्यंजन आदि में प्रमाण न करता हुआ जो वर्ण जहां का है जिस स्थान वाला है जो प्रयत्न वाला है स्थान प्रयत्न का प्रमाण न करता हुआ उच्चारण करता है प्रमादा प्रमादम अपूर्वम उद्गाता स्तुभित उद्गाता देवता की स्तुति करता है तो योजना यत्र कर्मणी उद्गाता यथोक्तरीत्या स्तोता भवती जिस कर्म में जिस यज्ञादि कर्म में इस प्रकार से उद्गाता स्तुति करने वाला होता है तत्र उस कर्म में क्षिप्रम एवं शीघ्र ही अस्वय इस साधक के लिए स मान स काम स काम मान स का था स काम वो काम वो फल समृद्धि में गच्छे वो फल समृद्धि को प्राप्त होता है यद काम असम यह स्तुति जो काम जो फल वाला होकर के जो स्तुति करता है इति शब्द प्रासंगिक उपासना समाप्त था इति लगा दिया स्तूबी था इति अंतिम इति है इसके लिए तो प्रासंगिक उपासना पूरी हो गई अब हम अपने मुख्य उपासना में जाएंगे यही कहना चाहते हैं <clears throat> हाँ, चतुर्थ खंड आरंभ होता है मंत्र है ओम ओमिते तदक्षरम उद्गीतम उपासित ओम ही उद्गायति तस्ोपव्याख्यानम ओमिति तदक्षर उद्गीतम उपासित ओमिति ही उद्गायति तस्ोपव्याख्यानम प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में यही मंत्र शुरू में था प्रसंग उसी का है बीच में प्रासंगिक कुछ आया था उद्गित अक्षर आदि उपासना उद्गान आदि उसको समाप्त करके फिर हम अपने मूल में जाते हैं वही दोबारा बोला इसी के लिए है पहले शुरू में जो मंत्र बोला था वही मंत्र बोला है ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उद्गित का अवयव उद्गित है कर्म है उद्गान कर्म उद्गान कर्म होता है ज्योतिष याग में उस उद्गान कर्म का अंग होता है उपासना वो उद्गान कर्म जहां होगा वहां उपासना होगी तो ओंकार की उपासना होगी ये कहा उपासना करे ओम इति उद्गायति क्योंकि ओम ऐसा उच्चारण करके ही उद्गान करता है उद्गाता पहले ओम लगाता है बाद में मंत्र का उद्गान करता है तस्व पर व्याख्यान उसी के आगे व्याख्या होनी है किसकी वो श्री ओंकार की ये बताया ठीक है प्रासंगिकम हित्वा प्रकृतम अनुसते प्रासंगिक चला था उसको परित्याग करके अब जो प्रकृत है मुख्य है अपना उसी में चलते हैं अब वही ओंकार की उपासना में चलते हैं कहा ओम इति इत्यादि प्रकृत अक्षर से ओम इत जो प्रकृत अक्षर ओंकार की यहाँ विषय है ओंकार उपासना की चर्चा है प्रकृत अक्षर से जो प्रकृत अक्षर है पुनरुपादान दोबारा कहा प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में भी यही था फिर अब यहां चतुर्थ खंड के प्रथम मंत्र यही आया दोबारा क्यों ग्रहण किया होगा मंत्र का यही बोलते हैं ओम इति एतद इत्यादि प्रकृत से अक्षर से ओम इत्येतद ये पहले भी आया प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में आया हुआ है उसका ये प्रकृत अक्षर है ओंकार इसका पुनरुपादान दोबारा यहां ग्रहण किया चतुर्थ खंड में आकर क्यों तो कहा उदगीत अक्षरादि उपासनातरित अन्यत्र प्रसंग वहां हो बीच में अन्य उपासना आ गए उद्गीत अक्षरों की उपासना चली थी उत प्राण प्राण उत हाँ, बाघ गिर इत्यादि आया था अन्नम थम ये उद्गीत अक्षर जो बीच में आए थे द्वितीय खंड में द्वितीय खंड में आया था तो इनके द्वारा व्यवधान हो गया है बीच में बीच में उदगित अक्षरों के व्यवधान पड़ा था इसलिए अन्यत्र प्रसंगों में आभूत ये उपासना कोई भिन्न प्रसंग हो गया ऐसा कोई किसी की मन में ना आ जाए इसके लिए दोबारा कहा गया हम प्रकृति में ही हैं ये बताने के लिए एक कारण है कहा प्रकृत से अक्षर से अमृत अभय गुण विशिष्ट प्रकृति जो अक्षर है ओंकार उद्गित के अभय ओंकार उसी का कैसा है गुण उसमें अमृत गुण है अभय गुण है ऐसा गुण विशिष्ट जो ओंकार है उपासनम विदातव्यम विद्यारंभ उसके उसी में अभय और अभय गुण अमृत गुण विशिष्ट उपासना का विधान करना चाहिए करके आरंभ करना चाहते हैं कोई ओंकार अमृतत्व गुण और अभयत्व गुण विधान करें देवता लोग अभय हो गए थे ओंकार के सहारा लेने से अमर हो गए थे ऐसा यहां चर्चा करेंगे कैसा होगा देवता लोग मृत्यु से डर गए मृत्यु से डरने से कर्मकांड संबंधी वेदों का सहारा लिया तो कर्मकांड संबंधी वेदों में मृत्यु ने देख लिया देवताओं के क्या करने जा रहे हैं फिर उन लोगों ने पता लग गया कि असुर ने यहां तो देख लिया है फिर इसको छोड़ करके वो ओंकार में चले गए ऐसा आएगा तो ओंकार में जाने पर मृत्यु कुछ नहीं कर सकता अभय हो गए अमर हो गए देवता ऐसा गुण का विधान करेंगे अमरत्व गुण अमृतत्व गुण और गुण विशिष्ट ओंकार की उपासना बतलाना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं ओम इत्यादि व्याख्यातम मंत्र का अर्थ तो पहले प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में हो गया है व्याख्या कर दी है वैसे ही व्याख्या है <clears throat> ठीक है हम कहते हैं पुनरुपा पुनरुपादान से तात्पर्य दोबारा जो ग्रहण किया प्रथम खंड प्रथम मंत्र में जो मंत्र आया वही मंत्र यहाँ चतुर्थ खंड में प्रथम मंत्र में तो इसका तात्पर्य बताते हैं बीच में उद्गीत उपासना आई थी इसलिए मन कहीं अन्यत्र न चला गया अन्य उपासनाएं शुरू हो गई ना हो जाए ना हम प्रकृति में ही है प्रकरण छोड़ा नहीं है बीच में प्रासंगिक थोड़ा आ गया था फिर हम उसी में है ओंकार के विषय में है ये बोलना चाहते हैं नहीं तो बीच में तो उद गी था इसकी उपासना चल रही थी ठीक है मैं क्या आदि शब्द है ना उदगी था आदि अक्षर आदि है ना उदगी था अक्षर आदि आदि से क्या लेना तो कहा आदि शब्द है ना पूर्वोक्तानी उपसरणानी गृह फिर शाम आदि के उपसरण बताया जब शाम के द्वारा स्तुति करें शाम का उत्पत्ति आदि के द्वारा चिंतन करे ऋषि का चिंतन करे छंद का चिंतन करे देवता का चिंतन करे दिशा का चिंतन करे अंतिम में अपना भी चिंतन करे नाम को तो- ये सब आया था आदि शब्द से लेना है ये तृतीय खंड में आया था ये तो बीच में आ गया द्वितीय खंड में आया था वो और तृतीय खंड में आया था ऐसा आगे था उद्गीत से तैर व्यवहित उद्गीत जो है उसके द्वारा व्यवहित होने से प्रकरण विच्छेद संख्या या ओंकार विच्छेद बने उदगित बीच में पड़ गया उदगित उपासना होने से विच्छेद हो गया तो प्रकरण का विच्छेद होने की शंका हो गई इसलिए तत्व अन्यस्मिन अर्थ प्रसंग से आ इसलिए मन होगा कि अन्य प्रसंग आ गया ऐसे मन होने लग जाए इसलिए स महाभूत ऐसा न हो जाए इतने एवं अर्थम इसके लिए पुनर्पादान दोबारा कहा हम प्रकृति में ही है बीच में थोड़ा प्रासंगिक आया था प्रासंगिक को त्याग करके हम प्रकरण में है ये बोलने के लिए दोबारा कहा देवावई मृत्युर इत्यादि देवास तात्पर्य आह आगे आएगा देवावई मृत्युर विभ्यता आएगा देवता लोग मृत्यु से डरते हुए तीनों विद्याओं में प्रवेश कर गए ऐसा आएगा माने कर्मकांड भी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में प्रवेश किए माने वेद विहित कर्म करने लग गया ऐसा अर्थ आएगा मृत्यु से डरते मृत्यु से पार होने के लिए किंतु मृत्यु से पार नहीं हो सके उससे फिर उसको छोड़ करके ओंकार के शरण में गए ऐसा आएगा इत्यादि यही बोलना चाहते हैं देवावय मृत्यु और इत्यादि इत्यादि तात्पर्य महा देवावय मृत्यु आगे यहां द्वितीय मंत्र में शुरू होना है इसके तात्पर्य बताते हैं प्रकृत प्रकृत वही है उसी का ये प्रकृत एवं अक्षर से अमृत अभय गुण विशिष्ट से जो प्रकृत अक्षर ओंकार है उसी में अभय गुण और अमृत गुण विशिष्ट है उपासना बतलानी है वही अभय है और वही अमृत है ये दिखाना है जब ओंकार की शरण लिए तो अभय हो गए अमर हो गए देवता लोग ऐसा आएगा ये कहना चाहते हैं अक्षर व्याख्यान प्राप्त अनुवाद भागम प्रत्याह करते हैं एक एक शब्द की व्याख्या मंत्र की व्याख्या करनी चाहिए भाष्यकार को ओम इत्यता तो अक्षर इत्यादि करते हैं अक्षर व्याख्यान प्राप्त हो अनुवाद भागम प्रत्याह अनुवाद भाग बता देते केवल बोलते हैं ओम इत्यादि व्याख्या इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है प्रथम खंड प्रथम मंत्र में ऐसा आगे मंत्र है देवा वै मृत्योर्विभ्यत त्रयी विद्याम प्राविशन ते छंदोभिच्छादयन यदेवी आच्छादयन तत्छंदसा छंदस्व देवा वै मृत्योर्बिभ्यतस्त्रयी विद्यां प्राविशन् ते छंदो भी भी छंदोभिच्छादयन यदेभिच्छादयस्तछंदसा छंद छंदस्व वही एक प्रसिद्धि है अव्यय है प्रसिद्धि अर्थ का है वही प्रसिद्ध है देवा दैवा पाठ में होगा देवा देवा वही मृत्यु विद्यता त्रय विद्या प्राप्त मृत्यु से डरते हुए ये भी भय धातु है सत्यंत है जस का रूप है विद्यत डरते हुए मान मृत्यु से पार होने की इच्छा है उनको मृत्यु और विद्यता त्रयम विद्याम प्राविशत मृत्यु से डरते हुए देवता लोगों ने क्या किया तीनों विद्याओं को फिर प्रवेश कर गए यजु शाम माने यजु शाम विहित कर्म करने लग गए अन्य कर्म छोड़ करके वैदिक कर्म में लगे स्मार्थ आदि कर्म छोड़ करके वैदिक कर्म में लग गए ऋग्वेद विहित यजुर्वेद विहित सामवेद विहित कर्म करने लग गए प्राविशन मैंने प्रवेश कर गए ते छंदो भी अच्छा रहे उन्होंने उन कर्मों के द्वारा अपने को ढक दिया छंद माने कर्म है वेद विहित कर्म उसके द्वारा अपने को ढक दिया मैंने हमेशा वही करते रहे दूसरा समय नहीं दिया ये ढकना है कर्म से ढका मैंने पूरा समय उसी में लगा दिया दूसरे काम और कोई काम ही नहीं किया ते देवा छंदो भी अच्छा रहे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के द्वारा प्रयुक्त जो कर्म है उन कर्मों के द्वारा अपने को ढक दिए माने वो कर्म करते हुए समय निकाल और कोई काम पूरे कर्म में समय काट दिया इसलिए स्वाभाविक कर्म नहीं कर पाए ये स्वाभाविक कर्म ही मृत्यु है जो बिना सिखाए होने वाला कर्म जितने भी हैं गलत कर्म ये मृत्यु होते हैं इसी से बचने के लिए उन्होंने पूरा समय उसी में लगा दिया देवताओं ने मृत्यु से बचने के लिए नहीं तो स्वाभाविक कर्म स्वयं को खा जाता है गलत करेगा तो मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने काम देवावय मृत्यु विद्यता स्त्रय विद्या प्राविशद देवता लोग वही प्रसिद्ध है मृत्यु से डरते हुए स्वाभाविक कर्म न हो हमारे से गलत कर्म न हो इसके लिए डरते हुए त्रयीम विद्या तीनों विद्या माने ऋग्वेद शाम तीन वेद को त्रय विद्या बोलते हैं या तीनों विद्या का सहारा नहीं तीनों विद्या भी कर्म का सहारा लिया उसमें प्रवेश कर गए ते छंदोवीर आच्छादयन उन्होंने के आच्छादयन उन्होंने अपने को छंदों से ढक दिया माने उन कर्मों से समय निकाला पूरा यदि ये भी छंद ये भी आच्छादयन देवताओं ने जिनके द्वारा आच्छादन किया ढका था तत् वही छंद का तो है वेद को छंद छंद बोलते हैं यही छंदस्तु है ढका है देवताओं ने अपने को कर्म करते हुए इसलिए वेद को छंद बोलने लगे वो छंदसाम छंदस्तुम कहा राष्ट्र में कहते हैं देवा वही मृत्यु और मारकात विद्यता देवता लोग वही प्रसिद्ध है मृत्यु और माने मारकात जो मारक है स्वाभाविक कर्म यही मारक होता है अपने को नरकादि यातना में पहुंचाने वाला है स्वाभाविक कर्म मारकात विद्यता उसे डरते हुए ये सत्यंत है इवि भय धातु है विद्यत सत्यंत है मारका विद्यत किम कृतवंत इति उच्चते क्या किया उन्होंने मृत्यु से डरते हुए मृत्यु से डरे तो क्या किया अब कहते हैं त्रयी विद्या मैंने त्रयी विहितम कर्म या त्रयी विद्या का अर्थ कर्म है या तीनों विद्या से विहित कर्म यदि शाम में प्रतिपादित कर्म उन वेदों में प्रतिपादित कर्म प्राविशन वही कर्म करते हुए समय निकाल दिया उन्होंने वैदिक कर्म करते हुए लौकिक कर्म छोड़ दिया प्राविशन बंत वैदिकम कर्म प्रारब्ध बंत वैदिक कर्म को आरंभ करते हुए जिससे कि स्वाभाविक कर्म न हो सके समय तो हमारे पास उतना ही होता है चाहे हम भजन के द्वारा समय काटें 24 घंटा चाहे हम गलत सलत तो बोल करके या इधर उधर करके समय काटें भगवान के नाम लेकर भी हम समय काट सकते हैं किसी को गाली देकर भी समय काट सकते हैं समय तो वही होता हमारे पास तो यही स्वाभाविक कर्म से दबना बचना हो तो भगवान के नाम आदि लेना चाहिए और शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए उसी में समय काटना चाहिए शास्त्र विहित उपासना हो शास्त्र विहित कर्म हो ऐसे करते रहेंगे तो हमारे पास समय नहीं किसी को गाली दे फुर्सत ही नहीं हमारे पास समय तो उतना ही होता है ना जिधर भी लगाए देवताओं ने यही काम किया स्वाभाविक कर्म से बचने के लिए ये कहते हैं देवा भाई मृत्यु मार्गात विद्यता देवताओं ने एक बार मृत्यु से डरते हुए क्या किया किम कृतवंता क्या किया उन्होंने तब कहते हैं इति उच्चते त्रयी विद्याम तीनों विद्या माने त्रयी विहितम कर्म प्राविशन तीनों वेदों में विहित जो कर्म है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में विहित जो कर्म है वो कर्म में प्रवेश कर गया माने निरंतर वो वैदिक कर्म करने लग गए दूसरे के समय ही नहीं प्रविष्टवंत वैदिकम कर्म आरब्ध बनता इत्यर्थ वैदिक कर्म को प्रारब्ध बनता प्रारंभ किया उन्होंने वैदिक कर्म आरंभ आरंभ कर दिए तन मृत्यु त्राणम मन वैदिक कर्म स्वाभाविक कर्म का माने मृत्यु को ये रोक सकता है ऐसा लगा ये रक्षक है ऐसा मानते हुए तन माने कर्म वैदिक कर्म मृत्यु त्राणम मन माना मृत्यु के रक्षा कर सकता है ऐसा सोचते हुए देवताओं ने काम किया किंच किंतु किंच ते कर्मणी नियुक्त छंदोवीर मंत्रीर जप होम आदि कुरबंत कहते उन देवताओं ने क्या ते माने देवता कर्मणी विनियुक्त जो कर्म में प्रयुक्त मंत्र है उन मंत्रों का सहारा लिया उन्होंने जो कर्मों में प्रयुक्त मंत्र है उपासना में नहीं ज्ञान में नहीं जो कर्म में प्रयुक्त होने वाले मंत्र हैं तीनों वेदों में उन मंत्रों के द्वारा ते देवा कर्मणि विनियुक्त ही कर्म में उपयुक्त जो मंत्र है छंदो भीर माने मंत्र जब हो आदि छंद माने मंत्र है जप है होम है जो कर्म संबंधी है कुल को करते हुए आत्मान कर्मांतरेशु अच्छा अपने को ढक दिया अन्य कर्मों से ढक दिया अन्य कर्म करने से तो समय नहीं दिया स्वाभाविक कर्मों से ढक दिया यही है माने दूर रख दिया उसको वैदिक कर्म वैदिक जप करते हुए होम करते हुए वैदिक कर्म करते हुए समय काटे तो कर्मांतर से अन्य कर्म जो स्वाभाविक कर्म था उसमें अच्छा देन उसको ढक, उससे ढक दिया अपने को वो आने नहीं दिया दूर कर दिया उसको अच्छा तो होता कहा ढक दिए यस्मात जिससे कि ये भी मंत्र आच्छादन जिन मंत्रों से जिन कर्मों से अपने को ढका था उन्होंने देवताओं ने अच्छा दिन तत् तस्मात छंदसाम मंत्राणाम छादनात् छंदस्त क्यों ये आच्छादन कर गए देवताओं ने देवताओं को ढका है इसलिए इसको छांदस बोलते हैं मंत्रों को देवताओं को ढका इन्होंने इसलिए नाम पड़ा छांदसा मंत्रों का नाम छांदस होता है छंदस छंदस्तम का छंद कहते हैं वेद को छंद बोलते हैं ना देवताओं ने ढका था हाँ, इसलिए अपने को ढका था ये प्रसिद्ध है इसलिए छंद कहा जाता है वेद को ठीक है देखें देवासुरा हवई यत्र इत्यत्र व्याख्याता देवा देवता कौन है कहते हैं देखो प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड में प्रथम अध्याय द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में था देवा देवासुरा हवई यत्र सम्यति रे ऐसा था देवता और असुर के जिस विषय को लेकर के झगड़ा हुआ था स्वाभाविक वृत्ति और माने देवी वृत्ति और तामसी वृत्ति जो दो वृत्ति हैं इनके झगड़ा हुआ था आया था द्वितीय खंड में था देवासुरा हवई यत्र इत्यत्र व्याख्या था देवासुरा हवई यत्र सम्यति रे ऐसा था एक दो एक हाँ, माने प्रथम अध्याय तो चल ही रहा है द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में आया था वही देवता यहां लेना है देव शब्द से ये कहा देवासुरा वही यत्र इत्यत्र व्याख्याता देवा मारकाद असुरात पाप मना सकाशात जो पाप है माने स्वाभाविकी वृत्ति है वही पाप है वही असुर है उसको दबोचने के लिए शास्त्रीय वृत्ति लाने के लिए कर्म करने लगे एक कहा मारकाद असुरात पाप मना जो पाप है उससे सकाशात उससे डरते हुए दिव्यता डरते हुए कोयम कर्मणि प्रवेश हो नाम देवता कर्म में प्रवेश घर में प्रवेश करते हैं तो सुना है कर्म में प्रवेश कैसा होगा यागादि अनुष्ठान कर्म होता है उसमें क्या प्रवेश करना तो कहते हैं तथा वैदिकम कर्म प्रारब्ध बनता है प्रवेश कर्म ने वैदिक कर्म का प्रारंभ आरंभ कर, कर गए देवता लोग स्वाभाविक असुर से बचने के लिए जो पाप से बचने के लिए वैदिक कर्म प्रारंभ किया ये कहा तद यदि वैदिकम कर्म उचित है आगे है तन मृत्यु प्राणम मन्यमान है ना तद माने वैदिक कर्म उस वैदिक कर्म को मृत्यु से पाप से बचा सकता है ये सोच करके उन्होंने ऐसा मानते हुए उसका सहारा लिया ये कहा ते छंदो भी इत्यादि है तो देवताओं ने उनके द्वारा अपने को ढंग दिया था वैदिक कर्मों के द्वारा इसलिए वेद तो नाम छंदस पड़ गया ऐसा आया इसके व्याख्या करते हैं किंच करके कहा भाष्य में कहा था ते कर्मणि विनियुक्त ही छंदो वीर मंत्र जपोवादि भी वो कर्म में उपयुक्त जितने भी मंत्र हैं छंद माने मंत्र जप होमादि है उसी के द्वारा अपने अपने को रक्षा करते हुए कर्मांतरेशु अच्छादयन छादित मंत्र अन्य कर्मों से अपने को ढक दिया अन्य कर्म आने नहीं दिए स्वाभाविक कर्म आने नहीं दिए ठीक कहा ठीक है कहते हैं नहीं सर्वे मंत्र सर्वत्र भी नहीं देखो हर मंत्र हर जगह में प्रयुक्त नहीं होता जो कर्म में प्रयुक्त होगा वो ज्ञान के लिए प्रयुक्त नहीं है जो ज्ञान में प्रयुक्त होगा कर्म में नहीं होता सबके सब एक ही जगह में उपयोगी नहीं होते हैं भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न उपयोग होता है हर स्थिति है एक कहते नहीं सर्वे मंत्र सर्वत्र थे सारे मंत्र सभी में तो प्रयुक्त नहीं होते तो तथा तो, एकस्मिन कर्मणी अनुष्ठीय माने एक कर्म के अनुष्ठान करने पर विनियुक्त मंत्रान हित्वा उस मंत्रों को परित्याग करके एक कर्म में जो मंत्र लगते हैं उस कर्म को त्याग करके कर्मांतरेशु अवशिष्ट जपादि कुरबंता और अन्य कर्मों में जपादि करते हुए स्वात्मान देवाच्छादित बनता तो इसके द्वारा अपने को आच्छादन किया तस्मात न मृत्यु बस्यता तेसा मित्यर्थ इसलिए क्या होगा मृत्यु से पार नहीं जा सकते ये लोग क्यों वेद विहित कर्मों में लगे हुए हैं उपासना में नहीं लगे ज्ञान में नहीं लगे उपासना में लगते तो हो जाता कर्म से नहीं होगा मृत्यु रहेगा ये कहना चाहते कैसे होगा तो दिखाते हैं तेसाम छंदो भी तत्व छंदसाम छंदस्तम प्रसिद्धि का प्रकार अभिनय थी देवताओं ने अपने को इससे मंत्रों के द्वारा ढका था इसलिए उन मंत्रों को छंद बोलते हैं छंद प्रसिद्ध है कहा तत्तस्मात इत्यादि का तत्तस्मात छंदसा मंत्राणाम छादना छादना छंदस्त क्यों देवता ने छादन किया आच्छादन किया घटा है अपन को इसलिए उसको छंद कहते हैं वेद को कहा आगे मंत्र है <clears throat> तानु तत्र मृत्यु यथा मत्स्य मुदके परिपश्येत एवं पर्यपश्यत ऋचि सामनी यजुषी तेनु विप्वोर्ध्वारिच साम्नो हिंसा स्वरमेव तानु तत्र मृत्यु मृत्युर्यथा मत्स्यमुदके परिपश्येत् एवं पर्यपश्यत ऋचि साम्नी यजुषी तेनु वित्तोर्धारि च यजुषा स्वरमे प्राविशन तान उन देवताओं को वो माने अपी उनको भी जो वैदिक कर्मों से आच्छादित करके बैठे हुए थे उन देवताओं को भी तत्र माने मंत्रों से ढके हुए देवताओं को स्थिति में मृत्यु पर्य मृत्यु ने देख लिया माने कर्म करते करते छिद्र मिल गया कहीं कहीं छिद्र हो जाता है कुछ तो न कोई त्रुटि आएगी कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी गहना कर्मणों गति है तो छिद्र पा गया उसने यद्यपि वैदिक कर्म कर रहे हैं फिर भी कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई छिद्र मिला मृत्यु और परिपश्यत मृत्यु ने देख लिया कैसे देखा यथा मत्स्यम उदके परिपश्यत जैसे जो मछुआरा होता है वो मछली को देख लेता है पानी के भीतर यद्यपि पानी से ढक लेती है मछली अपने को मत से ढकता है अपने को पानी से पानी से आच्छादित है मत्स्य फिर भी मछुआरा उसको देख लेता है ठीक इसी प्रकार वो कर्मों से आच्छादित देवताओं को देख ले यद्य ढके थे कर्मों से समय उसी में काट रहे थे ढकना था फिर भी कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई उस दिन मौका पाया देख लिया मृत्यु ने स्वाभाविक वृत्ति ने देख लिया मृत्यु ने देख लिया कहा कहा देखा रिचि सामनी योगी वे ऋग्वेद में कहा त्रुटि हो गई उनकी ऋग्वेद विद कर्म सामवेद विद कर्म यजुर्वेद विद कर्म कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई मृत्यु ने देख लिया तो फिर तेरु विद्वा ते मैंने देवरा देवता लोग जान गए क्यों वैदिक कर्म करते करते संस्कारित तो हो गया था अंतकरण संस्कारयुक्त तो हो गया था समझ गए हमारे यहां गलत वृत्ति आने लग गई मृत्यु ने देख लिया हमें पता लग गया देवताओं को ते हूं अवश्य उन्होंने देखकर वित्वा जान करके ऊर्ध्वा व्यावृत ऋचा ऊर्ध्वा वहां से व्यावृत्त होकर ऋचा आदि ऋग्वेद आदि से उठे मान ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद विहित कर्मों से ऊपर उठे कर्म से उठे तो क्या किया उन्होंने वित्त ऊर्ध्व ऋचा सामनो यजुषा ऊर्ध्वा स्वरम एवं प्राविषण वहां से व्यावृत्त होकर के उठ करके मान उसको छोड़ करके क्या किया स्वर को ही प्रवेश करके स्वर में प्रवेश कर स्वर माने स्वेन राजते स्वर अपने आप प्रतिष्ठित होता है उसको स्वर बोलते हैं क बोलना हो आकार की आवश्यकता होती है क और के बिना ककार का उच्चारण नहीं होता किंतु अ बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है वो स्वर होते हैं तो स्वयं राजित स्वर अपने आप प्रतिष्ठित होने वाले को स्वर होते हैं ओंकार है स्वर यहाँ ओंकार की शरण में गए उन कर्मों को छोड़ करके ओम के शरण में गए ये बोलते हैं स्वरम एवं प्राविशन माने जो अक्षर शब्द का वाच्य होता है ओंकार वही स्वर है उसको प्रवेश कर गए माने ओंकार के जप में लग गए ये अर्थ है टीका में कहते हैं कर्मानुतिष्ठता देवान मृत्यु वश्यता नाम व्यापकता कर्म के अनुष्ठान करने वाले जो देवता लोग हैं उनका मृत्यु के अधीनता व्यावृत्त नहीं हुई मृत्यु रह जाती है कर्म में कहीं ना कहीं त्रुटि होती है कितने भी आप सावधानी बरते तो कहीं ना कहीं त्रुटि होगी इसलिए मृत्यु के मृत्यु से माने पारवश्य नहीं चली जाती एक आतान तान इत्यादि का भाष्य में तान तत्र उन देवताओं को उस स्थान पर जहां पर बैठे थे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के द्वारा ढकना माने ऋग्वेद आदि विहित कर्मों से अपने कुछ ढकना माने समय उसमें काट रहे थे ये ढकना था दूसरे मौका नहीं दिया दूसरे को तत्र देवान उस स्थानों में देवताओं को कर्मपरायण कर्मपरायण थे देवता लोग वैदिक कर्म में लगे हुए हैं उन देवताओं को मृत्यु मृत्यु ने पर्यपश्चित मृत्यु और वहां नहीं करना मृत्यु ने देख लिया उनको यथा लोके मत्स्य घातक जैसे लोक में देखा मछुआ मछली मारने वाला जो वो मछुआरा होगा मछली मारने वाला यथा लोके मत्स्य घातक जैसे मत्स्य घातक व्यक्ति मत्स्य को मारने वाला होता है मत्स्य उदगे नादि गंभीर परिपश्य बहुत ही गहराई में मछली गई हो तब तो नहीं देखता किंतु ज्यादा गहराई में नहीं है जल से ढकी हुई है मछली भी ढकती है अपने को जल से जल से ढका हुआ होता है मत्स्य उसको ना अति गंभीर अति गंभीर जल नहीं है हाँ, ऐसे जलों में परिपश्य जो तो जैसे मछुआरा मछली को देख लेता है उसी प्रकार इनमें देख लिया कर्मों में लगे हुए देवताओं को देख लिया कर्मों से ढके हुए देवताओं को मृत्यु ने देख लिया कैसे परिपश्चेत बात बड़ी सब उदक श्राव उपाय साधे हाँ ऐसे हाथ में तो पकड़ के नहीं आएगी मछली किंतु बर्छी डालने से बड़ी कहते हैं बर्छी को कांटा को अथवा बड़ी सब उदक श्राव है जल में बर्छी आदि छोड़ेंगे कांटे छोड़ करके निकाल सकते हैं इसको ऐसा उसको पता लगता है मछुआरे को मछली को हम निकाल सकते हैं देखता तो इसी प्रकार ये स्वाभाविक कर्म को भी एक कर्म में जिस समय में त्रुटि होगी इनकी उस समय में प्रवेश कर जाऊंगा निकालूंगा इनको मैं गलत वृत्ति में लगा दूंगा ऐसे मृत्यु ने सोच लिया ऐसे मन ने माना एवं परिपक्षित ऐसे ही उसने भी देख लिया मृत्यु ने भी देवताओं को देख लिया दृष्टवान दृष्ट है दृष्टवान देख लिया मृत्यु मृत्यु ने देखा कर्म क्षय उपाय देखो ये कर्म कर रहे हैं कर्म की पूर्णाहुति होगी कुछ थोड़ी देर में कर्म क्षय हो जाएगा मेरे समय आ जाएगा मैं इनको प्रवेश कर जाऊंगा उसने सोच लिया कर्म क्षय उपाय कर्म तो क्षीण होता ही है कर्म क्षीण होगा तो कर्म क्षीण होते ही मेरे उपाय बस में आ जाएंगे मृत्यु ने ऐसा सोचा ये कहा कर्मक्षय उपाय है ना साध्यान मेरे उसमें आ जाएंगे देवता लोग देवान ऐसे देवताओं को मैंने ऐसा मान लिया समझ गया मृत्यु कर्म क्षीण होगा मैं प्रवेश करूंगा इनमें गलत वृत्ति में सोच लिया क्वासो देवान तदर्श उच्चते कहा देखा देवताओं को उस मृत्यु ने किसने कहा देखा तो कहते हैं नीति सामनी एक दूसरी ये ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद कर्म में लगे हुए देवताओं को देखना ऋग यजु साम संबंधी संबंधी कर्मणी इत्यर्थ यहाँ ऋग जो साम साम का अर्थ है ऋग यजु साम संबंधी कर्म में देखा कर्म करते हुए देवताओं को देखा ते नु ते ते देवा नु माने अवश्य ही हम्म, क्या है तो कहते हैं तेन देवा वैदिक कर्मा संस्कृता शुद्धात्मा वैदिक कर्म करने से उनके अंतकरण शुद्ध हो गया था शुद्ध आत्मा यश्या शुद्ध शुद्धात्मा अंतकरण शुद्ध हो चुका है वैदिक कर्म करते उन देवताओं को इसलिए संतो शुद्धात्मा संत अंतकरण शुद्ध होने से होते हुए मृत्यु और चिकित्सितम विधि मंत्र मृत्यु की इच्छा को कर्तुम इष्ट चिकित्सितम करना जो चाहता था तो उसको समझ गए जान गए मृत्यु क्या करना चाहता है ये कर्म में हम लगे हैं कर्म की जिस काल में समाप्ति होगी उसी काल में प्रवेश करने की इच्छा में बैठा हुआ है विदित वाच्य और जान करके जब समझ गए देवता लोग जान करके ते ऊर्भा ऊपर उठ गए व्यावृत्त हो गए कर्म को छोड़ दिए दूसरे साधन में लग गए ते ऊर्भा मैंने व्यावृत्ता कर्मभ्य कर्म को से व्यावृत पृथक होकर के देवता लोग कर्मभ्य व्यावृत्ता संत कर्म से पृथक करके ऋचा सामनो यजुष कर्मण जो कर्म से व्यावृत हो करके ऋग यजु साम संबंधात कर्म अभ्युत्था ऋग यजु साम संबंधी कर्म से पृथक होकर हट करके उनसे अतिरिक्त होकर के तेन कर्मा मृत्यु भय अपगम प्रति निराश देवता लोग निराश हो गए उस कर्म के द्वारा मृत्यु का भय जाने वाला नहीं मृत्यु कब आएगा डरा रहा मृत्यु देख लिया तेन कर्मणा वो ऋग्वेद यजुवेद सामवेद विहित कर्म के द्वारा मृत्यु भय अपगमन प्रति निराशा मृत्यु के भय जाने के प्रति निराशा है आशावान नहीं है निराश हो गए देवता लोग ऐसे देवता तद अपाश्य उस कर्म को परित्याग करके तद मान कर्म अपाश्य परित्याग करके अमृत अभय गुण अक्षरम जिसमें अमृत गुण है अभय गुण है जहां पहुंचने पर भय नहीं होता हम्म, ऐसा गुण वाला जो स्वरम स्वर को प्राप्त प्रवेश कर गए कहा स्वरम मान स्वर शब्दिकम प्राविशन स्वर शब्द से कहा जाता है स्वयं राजते इति स्वर अपने आप प्रतिष्ठित होने वाले को स्वर बोलते हैं वर्णों को भी स्वर बोलते हैं और ई आदि स्वर होते हैं और ख ग आदि व्यंजन है व्यंजन माने चटनी जैसे होते हैं दूसरे के सहारे चलने वाले को व्यंजन कहा जाता है क बोल रहा हूं तो अ की आवश्यकता है अ के बिना क उच्चारण नहीं होता किंतु अ के उच्चारण के क की कोई आवश्यकता नहीं है अ क बोलना हो तो आ चाहिए वो दूसरे के सहारे में रहने वाले होते हैं व्यंजन जितने भी इसलिए व्यंजन जो चटनी आ रही है ना सहयोगी खाते इसमें थोड़ा स्वाद देने वाले किंतु तो पेट नहीं भरता उससे हाँ, वैसे यहां स्वर इसलिए अक्षर गिनते समय में कभी भी हल को ग्रहण नहीं करते अज को ग्रहण करते हैं वो स्वर है वो स्वेद राज्य स्वर तो स्वर का कहने जाते हैं तेन करना मृत्यु भाई अपगम प्रति निराशा तद अपाश्य देवता लोग निराश होकर के उस कर्मों को छोड़ करके वैदिक कर्मों को छोड़कर अमृत अभय गुणम अक्षरम स्वरम अमृत अभय गुण वाला जिसमें अमृत अमरत्व गुण है अभयत्व गुण है ऐसा गुण वाला अक्षरम अक्षर माने ओंकार के सहारा लेने से अमर हो जाता अभय हो जाता ऐसे गुण वाला स्वरम स्वर शब्दितम प्राविशम एवं प्रविष्ट बनता उसमें प्रवेश कर गए माने ओमकार उपासना परा समृता ये अर्थ है माने कर्मों को परित्याग करके ओमकार की उपासना में परायण हो गए ओमकार उपासना में लग गए ये अर्थ है एवं शब्दों अवधारणार्थ निश्चय करने के लिए एव लगाया है कहा <clears throat> स्वरम एव प्राविष्ट स्वर को ही प्रविष्ट कर गए हम्म। माने कर्म से व्यावृत होकर के ओमकार उपासना में लग गए कहा एवं शब्दों अवधारणार्थ संत समुच्चय प्रतिषेधार्थ समुच्चय नहीं कर्म सहित ओंकार नहीं केवल ओंकार हम्म। इसके शरण में गए कर्म सहित ओंकार नहीं लिया समुच्चय के लिए नहीं इसलिए ये एवं माने जैसे आप ही आना बोलते हैं ना जिसमें ही लगाते हैं हिंदी में उसी में संस्कृत में वो होता है आप ही आना बोलेंगे तो कितने व्यक्ति साथ आएंगे दूसरा नहीं आ सकता हाँ आप भी आना बोलेंगे तब तो और भी आएगा किंतु आप ही आना बोलेंगे तो एक ही व्यक्ति आएगा वैसे यहां भी जहां वो लग जाता है दूसरे की व्यावृत्ति कर देता है हाँ। कर्म की समुच्चय नहीं केवल ओंकार के शरण गए क्यों वो अभय अमृत गुण विशिष्ट है उसके जो सहारे में लगे तो अभय प्राप्त होगा अमरत्व तो प्राप्त होगी प्राप्ति होगी इसके लिए ये कहा ठीक है तत्र वैदिक कर्म प्रारंभ हो तत्र शब्द है ना तान तत्र तत्र माने जो वैदिक कर्म के प्रारंभ कर रहे थे देवता लोग उस स्थिति में वैदिक कर्म में लगे थे लौकिक कर्म छोड़ करके कहा उसमें ऊ शब्दों अप्यर्थ हाँ तो मंत्र में तान ऊ ऊ का अर्थ अपी उनको भी देख लिया मृत्यु ने वैदिक कर्म से दिन करके बैठे हुए दिन भर सुहा स्वधा में लगे तब भी देख लिया मृत्यु ने छिद्र मिल जाता है कर्म में कर्म की समाप्ति हो जाती है ना उसी काल में फिर जैसे हम शुभ वृत्ति में चल रहे थे कुछ काल जैसे सुवृत्ति की समाप्ति होती है तब तक असुवृत्ति जागृत हो जाती है असुर है वो तुरंत आ जाती है समय मिल जाता है ठीक है यथोक्त कर्म प्राण अभी तान मृत्यु परिपश्य संबंध है इस प्रकार वैदिक कर्म में लगे हैं यथोक्त कर्म वैदिक कर्म वैदिक कर्म में लगे हुए उन देवताओं को भी मृत्यु ने देख लिया ये स्थिति है मृत्यु मानी स्वाभाविक कर्म जो स्वाभाविक चिंतन जिससे कि आदमी नरकादि में चला जाता है स्वाभाविक चिंतन के माध्यम से वही मृत्यु कर्मणाम मृत्यु पद गोचरत्व दृष्टान्त है ना कर्म मृत्यु के विषय होता है दृष्टांत देकर के समझाते हैं कर्म जो भी होगा मृत्यु का विषय बनता है कर्म की समाप्ति में मृत्यु प्रवेश कर जाता है जैसे देखा है दृष्टांत दिया जैसे जल के भीतर जो मछली होती है तो मृत्यु देख लेता है मृत्यु कौन मानता मत्स्य घातक जो व्यक्ति मछुआरा वो उसको देख लेता है और सोचता है बर्छी आदि के द्वारा कांटे आदि के द्वारा निकाल सकता हूं उसको मौका मिलेगा ऐसा सोचता है ऐसे यहां भी जब ये कर्म से निवृत्त होंगे जिस काल में उस काल में दबोच डालूंगा ये सोचा ठीक है यथा इत्यादि कहा था दृष्टांत दिया था यथा लोके मत्स्य घात को मत्स्यम उदके नादि गंभीर परिपश्चेत अति गंभीर जल जहां हो बहुत गहराई में मछली गई तो नहीं दिखता उसको किंतु ज्यादा गहराई में न हो मछली तो दिखाई पड़ती मछुआरे को वो सोचता है बड़ी से उदक श्राव बर्सी आदि जाल आदि के द्वारा निकाल सकता हूं उसको ये सोचता है कांटे आदि के द्वारा निकाल सकता हूं उसको पता है ऐसे तो नहीं निकले कुछ उपाय करूंगा आ जाएगी सोचता है इसी प्रकार यहां भी ठीक है कहा दार्ष्टान्तिक भाग्य से विवक्षित अर्थ हुआ सिद्धांत है देवता यहाँ दार्ष्टान्तिक उसके विवक्षित अर्थ कहते हैं मृत्यु इत्यादि कहा था मृत्यु कर्म क्षय उपाय न साध्यान देवान मैंने मृत्यु ने देख लिया कि कर्म क्षय होते ही ये उपाय मिल जाएगा मुझे जैसे नदी के भीतर मछली को निकालने के लिए कांटे आदि होते हैं उस तरह से मृत्यु निकाल सकता है मछली को इसी प्रकार देवताओं को भी जब कर्म समाप्ति होगी उस काल में मेरे प्रवेश करने का समय आ जाएगा मृत्यु ने सोच लिया है कहा दार्शांति के क्षूत्र तक स्थानीय किम से आदि प्रश्न हुआ दृष्टांत में जो क्षूद्र जल के स्थान में क्या है या तो क्षूद्र जल दृष्टांत हो गया दार्ष्टान्तिक सिद्धांत में क्या है जल के स्थान में प्रश्न आया तो कहा एक प्रश्न पूर्व कहा क्वासो कहाँ देखा उसने मृत्यु ने देवताओं को ये प्रश्न हुआ था तो उन कर्मों में देखा वैदिक कर्म से आच्छादित करके बैठे थे वहां देखा ये उत्तर दिया है ऋगादि नाम नित्यत्व क्षयाभावात न स्थानीयता संख्या कहते महाराज वेद तो कैसे हैं नित्य हैं अनादि है नित्य है वेद तो वो तो क्षय होते ही नहीं कैसे क्षय हो गए कैसे क्षय होगा उनका और फिर मृत्यु कैसे प्रवेश करेगा उनके क्षय होने पर वो तो नित्य है ये शंका है ऋगादि नाम ऋग्वेद ऋग्वेद सामवेद नित्य है नित्य न क्षया भाव क्षय न होने से न क्षुद्रोदक स्थानीयता क्षुद्रोदक स्थानीय में नहीं होंगे क्षुद्र जल के समान नहीं होंगे वो ये शंका आगे तो कहा देवक सिद्धार्थ ने कहा क्या कहा ऋग यजु कर्म भी साध्य जो कर्म थे ऋग यजु संबंधी कर्म नहीं वो कर्म में देखा हम्म। ऋग यजु सामृत्य होने पर उनके कर्म अनित्य है उनके द्वारा होने वाला कर्म अनित्य है तो उस कर्म में कर्मों से ढक करके बैठे थे वो कहा कर्मणस्त कृतकत्व न फलता स्वरूप क्षयिता प्रसिद्ध है कर्म दोनों प्रकार से नाशवान है स्वरूप से भी नाशवान है कर्म नष्ट होता है स्वाहा स्वाहा थोड़ी देर में नष्ट हो गया पूर्णाहुति हो गया तो कर्म समाप्त हो गया स्वरूप से फल से भी नष्ट है कर्म का फल नष्ट हो जाता है जैसे हम खेती करते हैं खेती का फल धान जव आदि लाए खाए पिए कूटे पीटे खत्म हो गया वैसे ही जो भी वैदिक कर्म से फल होगा स्वर्ग आदि वैसे ही है फल से भी नाशवान है कर्म और स्वरूप से अपना स्वरूप से भी नाशवान है कर्म स्वयं भी नष्ट होता है कर्म स्वयं नष्ट होता है पुनरावधि हो गई तो कर्म समाप्त हो गया कहा रहा कर्म और फल से भी नाशवान है ये कहा नष्ट कृतकत्व कृतक है ना कार्य है ना कर्म किया जाता है कृतकत्व है ना कृतक होने से कार्य होने से फलता स्वरूप उसे फल से भी नाशवान है क्षयिता है और स्वरूप से भी अपना स्वरूप से भी नाशवान है प्रसिद्ध इति भाव ये कहा मृत्यु परिहार उपाय उपदेश दिया मृत्यु के बचने का उपाय क्या है स्वाभाविक चिंतन आदि से बचने का उपाय क्या है कोई ना कोई एक आलंबन जीवन में चाहिए आलंबन के बिना व्यक्ति बेकार हो जाता है आलंबन चाहिए जैसे एक व्यक्ति ने भूत की उपासना की अनुष्ठान किया सिद्ध किया भूत को भूत सिद्ध किया तो भूत ने कहा वरदान मांगो तो उसने कहा मेरे घर में नौकर बन के काम करो हम्म, कहा तो बुद्ध ने कहा ठीक है तुमने मेरी सिद्धि की है मानता हूं किंतु एक बात है एक शर्त पर जाऊंगा मैं खाली नहीं रहूंगा यदि खाली रहना पड़े तुमको खाऊंगा काम कितना भी करो कोई भी काम करो सब काम कर दूंगा किंतु खाली जब रहूंगा तो तुम्हें खाऊंगा मैं बोलेगा क्या कमी हमारे घर में काम चलो लाया अपने घर लाया ए, ये करो तुरंत कर देता था अभी भी कोई जल्दी काम करता थे कैसा तो भूत है बोलते हैं ये करो कर दिया घर के काम थोड़ी देर में समाप्त तो हो जाता है काम रोता ही नहीं और शर्त है खाली होने पर तुम्हें खाऊंगा ऐसा बोल के आया हुआ है अब बाद में परेशान हो गया भूत को लाया था चालाकी करके किंतु भूत ही चालाक बन गया है और खाने को तैयार हो गया तब आखिर में महात्मा के पास गया महात्मा के पास युक्तियां होती है और कुछ नहीं होती है उसी से जीते हैं लोग गया बाबा जी ऐसी स्थिति हमारी होगी महाराज महात्मा कोई बात नहीं एक काम करो आंगन में एक लंबा बांस गाड़ देना है घर के आंगन में जब काम हो कहना काम कर ये काम कर काम खाली होने पर बोलना जब तक नहीं बुलाऊंगा तब तक इसमें नीचे ऊपर करते रहना ऐसा बोलना और जब काम होता था तब बुलाता था आ जाए यहाँ काम कर काम नहीं अब जा नीचे ऊपर करते रहना माने आलम्बन चाहिए ऐसे मन यहां हमारा भूत है इसको कोई ना कोई आलम्बन खुराक देना होगा एक संत लोग बोलते हैं भजन करो माला जपो स्वाध्याय करो जप करो तप करो जो बोलते हैं आलम्बन है अगर आलम्बन नहीं होगा तो मन गलत चिंतन से खा जाएगा गलत चिंतन से बचना हो तो कुछ ना कुछ आलम्बन चाहिए या तो जप करो या पाठ करो या स्वाध्याय करो या सत्संग सुनते रहो या ध्यान करो जो आपकी शक्ति है कुछ न कुछ करो आलम्बन चाहिए ये खाली बैठ नहीं सकता भूत है ये और पांच भूतों से बना हुआ ये भी नहीं सोचना एक भूत का भी नहीं है हाँ, पांच भूतों का है समष्टि वाला है दृष्टि वाला नहीं है ते कहा मृत्यु परिहार उपाय होते तेम इत्यादि का तेम देवा वैदिक कर्मा संस्कृता शुद्धात्माना क्योंकि उनको कुछ पता लग गया वैदिक कर्म करते करते उनके अंतकरण शुद्ध हो गया था इसलिए क्षमता मृत्यु और सदम विदेश मृत्यु की जो इच्छा थी क्या करना चाहता है हमें प्रवेश होकर के मारना चाहता है समझ गए और विदित्वाच जान गए तो उन कर्मों को छोड़ दिया यहां तो मृत्यु का प्रवेश होने वाला है छोड़ करके स्वर के स्वर में प्रवेश करके मैंने ओंकार के प्रवेश कर गए कहा ठीक है कहा कर्म सकाशात ऊर्धा व्यावृता वैदिक कर्म से ऊपर उठ करके सर्व कर्म संग्रहार्थम कर्मभ्य बहुत बहुवचन दिया कर्मभ्य ऐसा दिया बहुवचन के कोई भी कर्म नहीं स्रोत कर्म स्मार्थ कर्म सब छोड़ दिए कर्म मात्र को छोड़ देना बहुवचन का प्रयोग है कर्म अभ्यत दिया है अवैधिक कर्म त्याग से कर्मीशु भी सिद्धत्वाद वैदिक कर्म त्यागार्थम विष्णष्टि ऋचा इत्यादि कहा अवैधिक कर्म त्याग तो कर्मी में भी है किंतु इसलिए वैदिक कर्म त्याग के लिए विशेषण दिया ऋचा साम इत्यादि को सभी को छोड़ दिया कहा कर्म त्याग मात्रात कृतकृत्यता संकाम कर्म त्याग कर देने मात्र से कृतकृत्यता हो जाएगी जीवन में कर्म छोड़ दो बस हो गए क्या करना हो कुछ नहीं करना ऐसा बोलना ये इस निराकरण करके एक नहीं आगे करना तो पड़ेगा कर्म नहीं करना और कुछ करना पड़ेगा कहा तेना कहा तेन कर्मणा मृत्यु भय अपक्रम प्रति निराशा निराशा उस कर्म के द्वारा वैदिक कर्म के द्वारा मृत्यु भय नहीं जाएगा ये सोचकर निराश होते हुए तद अपाश्य उस कर्म को परित्याग करके अमृत अभय गुणम अक्षरम जिसमें अमरत्व गुण है और अभयत्व गुण है ऐसा अक्षर स्वर स्वर शब्द से कहा गया जो ओंकार होता है उसमें प्रवेश कर गया ये तो कर्म छोड़ने में आप रखिए आगे करना भी है कुछ किम तद अक्षर में कहा वो अक्षर क्या है स्वर शब्द से कहा गया अक्षर क्या था ओंकार उपासना पर संवृत्त ये कहा ओंकार उपासना पर हो गए एवं शब्दों अवधारणार्थ का प्राविशन एवं एव शब्द लोग अवधारण के उसी के ही शरण लिया स्वरम एव प्राविशन है स्वर का ही शरण लिया ऐसा कहा समय हो गया है यही रखते हैं फिर ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथोबलिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्मया प्रिया मामा ब्रह्म निराकरोत निराकरणमस्तु निराकरणमेस्तु तदात्मनि विरते यौपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति